www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن حافظ لوالد الإسلام من أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے معزز بھائیو دوستو طالب علموں मुझे कहा गया है कि चंद मिनट आपसे कुछ गुफ्तगु कर दो और बात आप ही से मैं कर रहा हूँ आपके इस कराम की मौजूदगी में माशाला वो आपसे हर वक्त बातें करते रहते हैं कुछ नसीहतें करते ही रहते हैं कभी मुझे आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है सिवाय ये कि अल्लाह तला ने आप हजरात को एक बहुत सुनहरा मौका अदा करना है और आपका इंतखब अल्लाह ताला ने फरमाया है लाखों में से गिने चुने ही लोग होते हैं जिनको ये आजीम दौलत अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं इल्म की दौलत कुरान करीब की तारीफ और इस ने वकील की खिदमत के जज्बे से इलम हासिल करने की अल्लाह ताला से मैं सादत नसीब फरमाई है ये बहुत ही शुक्र का मकाम है अल्लाह ताला का शुक्र योगी अदा करना चाहिए बल्कि खुशकस्मती होगी कि अगर योमिया दो रखा मजीद इसी नीयत से हम अदा करें अल्लाह का शुक्र और एहसान हम मान कर जो है दो रकात पढ़कर शुक्रिया करें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दिया कहीं शैतान के वसवसे में मुबतला होकर ये नेमत हमसे छीन न जाए ये भी किसी वक्त हो सकता है और बारहा देखा गया है ये तालब मदरसे में आता है कुछ दिन रहता है और उसके अंदर सलाहियत काबिलियत भी होती है लेकिन वो किसी न किसी सबब से उस रास्ते से भटक जाता है और वो महरूम हो जाता है अब कभी कभी तो उसके इसबाब भी होते हैं महरूमी के जो जाहिर जाहिरी इसबाब होते हैं और जो हमें बताया जाता है बेअदबी जो होती है तो बहुत खतरनाक चीज है ये तो मशहूर है कि बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब और मजीद उस पर यह भी कहा कि बद अदब बद नसीब इसलिए अदब जो है बहुत जरूरी चीज है इसके बगैर तो उसूल इलम का रास्ता जो है बहुत ही मुख्तसर रहेगा जिसके अंदर अदब नहीं हो तो वो इलम हासिल नहीं कर पाएगा इमाम शाफी रहमल्ला का एक शेर मुझे याद आया जिस पर मैं थोड़ी सी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा जो दीवान और इमाम शाफी में मौजूद है और वो ये दीवान मैं कई लोगों से कहता हूँ तलबा से यहाँ भी जाता हूँ मैं कहीं इसको मुताला रखना है अजीब व गरीब अल्लाह ने जो है उनको सकावत और सहानत दी थी और उन अशार के अंदर जो उन्होंने मुरतब फरमाए हैं और जो उनके दीवान में मौजूद है बड़े सबक आमोज जो है वो अशार हैं तालिब के सिलसिले में वो तालिब को इनके लाइन में जो लगे हुए हैं उनको मुखातब फरमा कर फरमाते हैं अखी कितना प्यारा अंदाज है मेरे भाई तालिबिल को अपना भाई कह रहे हैं कौन इमाम शाह मोहम्मद इबन इद्रीस शाफी रहीमहुल्लाह वो फरमाते हैं लन तनाल इल्म इल्ला बिसिद्दत लन तनाल अरबी पढ़ने वाले जानते हैं कि लन किसके लिए आता है फरकिस तुम इलम को हासिल नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम में ये छह चीजें जमा न हो जाए छह सिफतें इसकी हैं फिर तालब इम के अंदर ये छह बातें अगर आ गई तो उसको इलम हासिल होगा नसीब होगा उसको और न नहीं तो जाहिर है कि तालब इम जो होगा तो वो यही पूछेगा कि वो क्या चीज छह चीजें क्या हैं तो फरमाए सब भी का तफसील हा भी बयानी उसकी तफसील मैं अपने बयान के जरिए से वादे कर देता हूं मैं तुम्हें मुतनफे कर देता हूं कि वो छह चीजें क्या है दूसरे शेर में फिर फरमाते हैं जकाउन वहरसुन वजतिहादुन वबुलगतुन वसुहबत इन वकूल जमानी छह चीजें जो बयान फरमाई जिसमें पहली चीज बयान की है जकाउन जकाउन का मतलब होशियारी अब इस पर सवाल तालीम करता है कि होशियारी तो अल्लाह की तरफ से होती है अल्लाह जहानत जिसके अंदर अल्लाह ने रखी हो तो वो जहीन है बात जो है जाहिर के हर की शक्ल खूबसूरत नहीं होती है बात की शक्ल कैसी होती है कैसी होती है वो तो मिलना चीज होती है इस तरह इंसान की तकलीफ है कोई ऊंचा है कोई जो है पसंद है किसी की बॉडी बड़ी दुबली पड़ती है तो कोई मोटा है इसमें तो तकनीकी चीजें होती है बात जाहिर बाहर के असबाब भी होते हैं लेकिन इंतजाम तो ये तकलीफ अल्लाह की तरफ से जो होती है वही होती है तो जहानत की तो ये चीज होती है कि इंसान खुद कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकता है कि जिसकी उससे उसकी जहानत बढ़ जाए या वो पैदाइशी ऐसा हो कि उसकी जहानत थोड़ी कम है किसी की ज्यादा है तो वो तो उसके इख्तियार में है नहीं फिर तो इमाम शाफी रही का कहना कि बताओ कि ये चीज तुम में अगर नहीं है तो तुम्हें हसूल हिरत का रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल है तो समझने की बात यह है कि गता जिसको हम गता समझते हैं कि होशियार होना देखो होशियार होना अलग चीज में चालाक होना और होता है अरे में बड़े चालाक होते हैं मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि हमारा वास्ता पड़ता है बड़े चाला होते हैं की होशियारी नहीं है जिस होशियारी के अंदर सलाह हो सलाह जिसके साथ है वो होशियारी की बात कर रहे हैं इमाम शाफी मोलवा और दिमाग तो हर एक खोपड़े में दिमाग अल्लाह ने रखा है खाली तो वही नहीं होता ना कि भाई नारियल में कुछ है नहीं बाद नारियल पानी होता है बाद में कुछ नहीं होता है तो ऐसा तो नहीं है अल्लाह ने रखा है उसका इस्तेमाल सही अगर होगा और होगा कब तो वो तो इमाम शादी रही मोला खुद ही बता रहे कि ये कुत हाफिजा कुत हाफिजा जो है वो चीज तो ऐसी है कि उस पर असर होता है आदमी के अमाल और उसके अफाल का तो शकोर तो इला सुअित ये तो पढ़ा हुआ सुना हुआ बार बार आप सुनते रहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से मैंने शिकायत की सुअित थी कि मुझे याद चीजें याद नहीं रहती हैं मेरा दिमाग बहुत कमजोर है तो क्या नसीहत फरमाई उन्होंने बताइए पौसाली तकिल महासी ये नहीं कहा कि बाधा उठाओ अपने पुराने तो ये कहते हैं कि भाई आनंद मगर कमजोर क्षेत्र में बदल थोड़ा होगा बदल थोड़ा होगा तो ठीक है अपनी जगह पर है मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं उससे ज्यादा तो मेरा ख्याल अखरोट है लेकिन अखरोट यहाँ इस इलाके में नहीं होते बादाम पर नंबर दो नंबर दो बदाम अखरोट जो होता है ना उसकी शक्ल अगर आप देखें बिल्कुल दिमाग जैसा उस इंसान का जो भेजा है और उस अखरोट की जो शक्ल सूरत है बिल्कुल बराबर है अब तो ये साइंसी तकनीक की है कि सबसे ज्यादा मुफीद दिमाग के लिए अखरोट है ये तो सानवी दर्जे के इलाज है देखो दवा आपको अगर दी जाए और उस दवा के साथ आपको परहेज बतलाया जाए परहेज अगर करेंगे तो वो दवा आपको मुफीद रहेगी और परहेज के बगैर चाहे आप कितनी वो दवा खा लो फायदा नहीं होगा तो इमाम शाफी रही परहेज उनके उस्ताद ने उनको परहेज बताया पहले वो परहेज क्या था इला तस्किल मासी ये गुना छोड़ दो गुनाह ऐसी चीज है कि इंसान की कुत है हाफिजा को और उसके दिमाग की जो कुत है उसको खत्म कर देता है आज में आप बादाम खाइए तो इंशाला मुफीद रहेगा लेकिन ये अगर नहीं छोड़ेंगे ये परहेज बदन से तो कुछ नहीं होने वाला मोटे हो जाओगे दिमाग ये बैठे हुए इसके हंस रहे बदन खाते आप खाइए एक बार रखते हैं मोटा होना भी कोई बुरी बात नहीं है मोटा मोटा होकर भी अगर आप एक्टिव रहें तो ठीक है लेकिन अगर ऐसा मोटा हो जाए कि आदमी जो है बैठ जाए ऐसा कि वो उसको खड़ा होना मुश्किल हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं और वैसे कि सारे यकीन के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि वो फ़ाल नहीं रहेगा काम करने की सलाहियत और काबिलियत उसमें कम होती है जो इसमें मोटापा ज़्यादा होता है और ये तो इसी चीज़ है आदमी खुद समझ लेता है बारह तो बता का माना यह है कि आदमी दिमाग के अतबार से जो है चौकन्ना हो इमाम उसका वक्त हाजिर हो अगर मासी मगल, से मगलूब हो जाए दिमाग मासी उस पर गालिब हो जाए तो फिर वो दिमाग ऐसा है कि उसमें कोई चीज नहीं जाएगी इसलिए सबसे पहला काम तो ये है कि जका पैदा करने के लिए मासी को छोड़ा जाए इंशाला चाहे आपको दुनिया ये कहती हो कि ये इतना जहीन नहीं है लेकिन मासी से जो दिमाग खाली हो वो दिमाग अल्लाह उसको तेज बना देगा तो जका जो है सबसे पहले नंबर दूसरे नंबर में फरना वहीर सुन हिर्स होना चाहे हरीस होना चाहे आखिर के पीछे मैं पता होता तलबा से पूछता हूँ छुट्टी से जब वापस आते हैं मैंने कहा आप में से दिल बिल आप यानी एक दिन खाली बीच में न गया हो पूरी छुट्टी के जितने अयाम हो पांच दस मिनट के लिए ही सही किसी किताब को हाथ लगाया हो पढ़ा नहीं मैं तो हाथ लगाने के लिए कह रहा हूं जब कहते हैं हाथ लगाया तो उसका मतलब नहीं कि पढ़ा हो लेकिन मैं तो वो भी नहीं पूछता उसका हाथ लगाया हो कम से कम उठा के उसको हाथ शास कोई भी नहीं शास को ऐसा मिलता है वो कहते हैं कि मैंने किताब उठाई मैंने कहा बड़ी सी बदमा मिले किताब पढ़ा तो वो बताते हैं बात फिर मैंने कल संस्कृत संभाग पढ़ी या वो किताब पूरी देख डाली वो कम हो जाए या इतनी किताबों का थोड़ा थोड़ा मैंने मुताला किया अगर कोई तालब सारी छुट्टी गुजर जाए मदरसे की छुट्टी और एक दिन उसको उसके अंदर ये दाड़िया पैदा अगर नहीं हुआ कि मैं कोई किताब उठाकर उसका मुताला करूं वो तालब नहीं ये जो तारीफ का लेबल हमने उस पर लगाया है तो वो काजिब है वो सादिक नहीं है तालिब इसको होता है कि तो उसका कहते हैं वो खाना इसको जब तक ये कोई किसी की बुराई नहीं करता है तो उसको खाना अदब नहीं होता है तालिब वो है कि जिस दिन किसी भी चीज का मुताला किताब का मुताला किया हो या किसी की नई बात उसने कहीं से सुनकर हासिल न की हो तो उसका दिल जाय समझता है कि मेरा दिल जाय हो गया ये अगर अंदर हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ कि हमारा कोई दिन ऐसा खाली न जाए कि इसमें हम कोई नई बात फिल्म की लाइन की हमें हासिल न हो अगर ये बात नहीं तो फिर ये तलब का नाम नहीं है ये जरूरी है कि हिर्स पैदा हो और हरीस हो जाए इंसान मेरा दिन ही जाए मैं समझू जिस दिन मुझे हिर्स की कोई बात हासिल न हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर दूसरे नंबर पर फरमाया हरीश फिर दुनिया का हिर्स आजकल तो यही हिर्स है हर एक को ये चक्कर है कि भाई मुझे और दुनिया कैसे हासिल हो फलान चीज के गाड़ी कैसे मिले ये करे हो मोबाइल कितना अच्छा मेरे पास आ जाए ये फिक्र रहती है फिर फिर इल्म ये जरूरी चीज है तीसरे नंबर में फरमाए वज की हाथ इश्तिहाद होना चाहिए इश्तिहाद मेहनत करो मेहनत से ही ये चीज हासिल होती है मुजाहदे से ही हासिल होगी अब तो हर चीज जो है इंस्टेंट इंस्टेंट का जमाना गया चाय भी ऐसी होगी इंस्टेंट बस पैकेट फूटो और उसमें डालो कॉफी आ गई इंस्टेंट गैस नेस्कैफे उसमें डालो उबाल कर अब तो जो है हकीमों के यहाँ भी इसके है पहले तो जोशांदा उबाल उबाल के जो है उसके जो जो है आग निकलता है जब वो अब तो जोशीना बना दिया कि भाई पानी गर्म करो उसमें दो चम्मच डाल दस किलो हो गया मसला मेहनत नहीं लगती अब मिजाज ये हो गया इलम में तो ये मिजाज नहीं आ सकता कि इलम की तो सिफत ये है कि लाने का बाबू हत्या सोते अपने आप को जब तक मुकम्मल तौर पर कुर्बान न कर दो उसके पीछे और मेहनत के लिए और अपनी जान को उसमें खपाने के लिए जब सब आदमी तैयार नहीं होता है तो इलम अपना बाल हिस्सा भी अब बड़ा मुश्किल नहीं है इलम थोड़ा सा हिस्सा जब ही वो देगा जब पूरा इंसान को तो उसके लिए कुर्बान न कर तो हर वक्त इस लाइन में मेहनत के साथ लगे रहने की गोया ये नसीहत फरमा रहे हैं इमाम शाफी रही कि वज की हाल में चौथे नंबर पर था वो तो बुलगत बुलगत का मतलब इर्ज तक रसाई के लिए वसाइल होने चाहिए जाहिर है आदमी के पास वसाइल नहीं है मदरसा एक जगह पर है जहां पर जाकर या कोई आलिम दीन ऐसा हो जिससे हमें कोई इलम हासिल करना हो वहां तक पहुंचने के वसाइल हमारे पास अगर नहीं है और इंतजाम नहीं है तो जाहिर है कि वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे जहां इलम हासिल हो सकता है तो मालूम पानी की बात होती है तो ये ज़माना तो बहुत माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि वसाइल तो बहुत है अब तो बात जगह ऐसा भी हमने देखा है कि वसाइल तो लोगों के पास है लेकिन वो ऐसी कुछ मजबूरियां उनकी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर इलम हासिल करने के लिए वो कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं तो अब तो उन्होंने ऑनलाइन जो है बाकायदा तालीम का सिलसिला शुरू कर रखा है कि वो इंटरनेट के जरिए से गोया वो उधर उस्ताद सामने बैठा है इधर स्क्रीन रखा हुआ है उस पर वो अपने उस्ताद को देख रहा है और वो इल्म इस तरह हासिल कर रहे हैं वसाइल की बात मैं कर रहा हूँ ये तो उनको तस्वुर भी नहीं होगा जो हम आज देख रहे हैं वह अलबुल गजुल का मतलब ये होगा कि आदमी वहां तक पहुंच सकता है जहां इनको को हासिल किया जा सकता है पांचवें नंबर पर कहना है वह सोहबत उस्ताद उस्ताद की सोहबत उस्ताद की सोहबत जबरदस्त इंतजाम कर ले उस्ताद का ऐसा जो है दामन पकड़ ले कि इनसे मुझे जो कुछ इसके पास है मुझे हासिल करना है हर वक्त साया बनकर उनके साथ रहे जिनको हमने देखा है कि अपने उस्ताद का साया बन के वो रहे हैं तो वो इलम की इतनी तरक्की उन्होंने की और इतना इलम उन्होंने हासिल किया वो उस लाइन से जिस लाइन से वो जिस उस्ताद से उन्होंने वो हसूल इलम के लिए उनके साथ उन्होंने जो है एक ताल्लुक कायम किया और उसके साथ एक जोड़ कायम किया तो उनको तो हासिल हुआ उस्ताद की सोहबत के बगैर ये बात नहीं हो सकती है अगर ये आदमी को ये समझ में आता कि किताब से मुझे हासिल होता है तो किताबें तो बाजार में बहुत पड़ी है पढ़ इधर वहां से हासिल होता है ये इधर का हसूल इधर का ये तरीका रहा ही नहीं कुरान के हसूल से लेकर आज तक यही तरीका रहा कुरान का हसूल भी कैसा हुआ आप इससे सबक लो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहिम अफीस आकर लिखा हुआ आकर नहीं दे गए डाक्टर की तरफ कि भाई लो ये पैगाम वहां से आया है नहीं बल्कि क्या तरीका रहा या आप पढ़कर सुनाते थे आप सलाम उसी तरह उसका यादा फरमाते थे और इसी तरीके से गोया हिरन एक से दूसरे तक मुंतकिल ये सदरन सदरी है सीना ब सीना जिसको कहते हैं किताब तो सिर्फ मोइन होता है वो किताब जो है बाद में आप पढ़िए लेकिन इब्तदाई हसूल को कम अज कम जो है अपने इस के सामने तलबुस जो है तय और अदब तय करके जो है ये हासिल होता है उसके बगैर ये चीज नहीं होती है अगर कर भी लिया किसी ने वो जो है गुमराही के राह पर चल रहा है चूंकि रहनुमाई उसकी नहीं होगी भटक जाएगा और उसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद है कि ऐसे ऐसे लोग इतने जहीन और इतना इलम और इस्तेदाद और सारी चीजें लेकिन वो राह रास्ते भटके हुए थे इसलिए कि उन्होंने अपना किसी को राह रास्त बतलाने वाला जो है उसके पास मौजूद नहीं तो उस्ताद की सोबत ये बहुत अहम चीज है अगर ये उसके बगैर इन अपना हसूल मुमकिन नहीं है और फिर आखिर में फरमाया नंबर छह पर वकूल जमानी ये दो पांच साल का मसला नहीं है उसूल इल्म मिनल महदी इल्लाह है और खसूस आप जबकि एक कदम उठाकर मदरसे में आपने रख दिया जिस तरह आदमी जो है नका सुहा कहता है निकाह के मौसम पर तो ये कोई महदूद वक्त के लिए होता है नहीं ये तो आप निभाना है आखिर उम्र तक इलम भी इसी तरह है इस लाइन में जब आपने कदम रख दिया है अब ये निभाना पड़ेगा रहती जिंदगी तक जब तक दुनिया में रहेंगे जब तक इसके साथ वाबस्ता हमें रहना पड़ेगा सही माने में अगर आप तारीफ में हो तो ये बात होगी वरना एक तो होता ही है कि हमारे मदारिस से जो है फरागत हासिल कर ली उसके बाद वो दुकान में लग गए इधर तक के फिर इधर से कोई वास्तविक ही नहीं रहती है इधर के साथ ताल्लुक भी बिल्कुल गोया मुनकदर कर दिया तो मैं उनसे पूछता हूँ मैंने इतने साल सदस्य में पूछने जो लगाए हैं और इतना सब कुछ उसने पढ़ा और इतना जिसने कुर्बानियां दी तुम्हारे माँ बाप ने कुर्बानियां दी तुम्हारे खानदान वालों ने कुर्बानियां सारी दी ये इसलिए तुमने पढ़ा था कि तुम दुकान करो देखो ममनू नहीं है मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा करना खराब है या ना जाए इमाम जो हनीफा रहमतुल्ला ने क्या उन्होंने तजारत नहीं की की थी लेकिन मकसूद उनका ये तो नहीं था मद्देनजर उनके सामने ये नहीं तो चीज नहीं थी ये तो जो है अपनी दुनियावी जो जरूरियात है असबाब के दर्जे में वो हासिल करना जरूरी है तो उन्होंने उस हद तक किया लेकिन बाकी सारे असबाब उन्होंने जो है इलम की जब तो वो इतने बड़े हुए अगर तजारत में ही बैठे रहते तो कहा हम आज उनको याद करते गाड़ी जाहिर नहीं होता तो वो अपने लेकिन मौजूदा दौर में तो ये है कि जिसने जो है कदम एक कदम जरा सा भी उसमें रखा दुनियावी जो है लाइन में तो वो फिर इधर से कट जाता है आम मदद ये है इल्ला माशाला कोई ऐसा हो कि अल्लाह ने जो है उसको जो है वो दिया तो फिर है कि वो तिजारत शुरू करके फिर उन्होंने लोगों को ऐसा लगा किया है और वो फिर इल्म लेकिन फिर भी उसका है थोड़ा मुंतजिम तो रहेगा तकसीम हो जाएगी दिमाग कुछ ना कुछ तो उधर जाएगा और वो जो यकसूरियत के साथ दीन की खिदमत और इलम की खिदमत में जो काम जिस तरह लगना होता है वो यकसुई वो यकसुई नहीं होती है बहरहाल वो दूर जमाने दूर लंबे जमाने तक जो है पढ़ते रहना पहले जमाने में तो दस दस पंद्रह पंद्रह साल लोग पढ़ते हैं अब तो छः साल सात साल कोर्स में वो भी हमें लग, लगता है बात को लगता है कि ये भी बहुत तवील है सात के बजाय छः कर दो छः के बजाय पाँच कर दो अरे भाई अब तो जमाना ऐसा आ गया कि इसको बढ़ाना चाहिए इससे ज्यादा ऐसी नहीं रही है पहले तो यह है कि उस्ताद इतनी तशरी नहीं करता था इतनी तशरी नहीं होती थी वो अल्फाज पढ़ लेते थे वो खुद समझ लेते थे कहीं एक लफ्ज एक लफ्ज इधर एक लफ्ज उधर लंबी लंबी तकरीरें नहीं करते थे लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोग पैदा होते थे अब तो लंबी तकरीर के बाद भी वो नहीं पैदा हो रहे निशान मुख्तर करके जो है मुख्तर से मुख्तर करने के बाद भी कोशिश तो ये हो रही कि और भी उसको मुख्तर किया जाए तो स्कूल जमान जरूरी है कि लंबे जमाने तक आगे पढ़ता रहे जितना अल्लाह उसको सौफीक दे जो छह सात साल कोर्स मुतन है वो पढ़ने के बाद अपनी इलम की गैस अगर बुझ गई होती तो फिर तो फिर इलम का हसूल तो हुआ नहीं इलम की प्यास को तो मरते दस्तक रहनी चाहिए हमारे उस्ताद और रईस जामिया हजरत मोहम्मदुल्ला साहब रहमतुल्ला अभी अभी जिनका मिसाल हुआ और आप सबको इसका इलम है हमने उनको देखा कि जब भी जब एहतमाम फरमा देते तो तब तक भी जब भी गए वो खाली बैठे हों खैर वो मोबाइल का जमाना नहीं है तो ये भी देखा गया मौसम जो है मोबाइल पर बैठा हुआ है ये भी देखा गया उस्ताद नहीं बैठे तो वो भी तालिब हर एक का हाथ में यही आ गए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हम जिस जमाने में हमने पढ़ा ये वो ये मरफूज जमाना नहीं था मैं मरबूस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें बड़ा नुकसान आया है इलम की लाइन से इतना नुकसान खतरनाक के जरिए से आया है कि बस अलमान बार में तो हमने जब अपने अब्दुल्ला साहब रहमतुल्ला को हम जब भी देखते थे दस्तक में जब भी जाना हुआ या वहां से अगर गुजर भी हुआ तो वो बैठ के कोई किताब सामने रखी हो उसका घर में हम जाए गए तो वहां भी देखा मेहमान अगर कोई नहीं है तो वो किताब लेके बैठे हुए सफर में देखा तो जब भी वही बल्कि मरद वफात में जबकि इतने अजीब थे और बीमार थे तो ये किताब कोई आई तो उसको देखने आज हमें तो सोलह सफ़े सिर्फ देखी गई थी आज मसाला बहुत कम हुआ सोलह सफ़े देखने के बाद फरमा रहे इतनी उम्र इतनी बीमारी सोलह सफ़े हम तो सोलह सफ़े सेहत में नहीं पढ़ते सोलह सफ़े इतनी अलादत में वो पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज उस पर अफसोस का इजहार करना हमें क्यों ये अफसोस नहीं होता है कि हमारा जुम्मा की छुट्टी होती है तो किताबों को हम तलाक दे देते हैं पूरे जुम्मा जुमेरात की शाम से आसर से छुट्टी हुई और जुम्मा की मगरब के बाद तक अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद ही कोई हाथ उठा के मुझे कहें कि मैंने हाथ जुम्मा की छुट्टी में मैंने इतना पढ़ा या इतना मुताला किया ये मिजाज पैदा करने की जरूरत है मुताला की उतारा होना चाहिए हर वक्त हर वक्त तो नहीं कर सकता आदमी को जॉब जरूर याद है लेकिन नियत करके और ये तय करके एक मुतन के भाई जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद पांच दस मिनट कोई ना कोई मैं जो किताब जिसका मुताला कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं पढ़ ली ताकि तसलसल न टूटे तसलसल जब कायम रहेगा इल्म में बरकत आती है और ये जो इब्तदा हो जाती है इसे तो आप आपके अल्लाह कहते हैं कि आप एक दिन का सफर सादा करोगे गोया आप पीछे चले गए अब उस सिलसिले को और, और जो ए, ए, जोड़ था उसको कायम करने के लिए आपको कितने दिन चालीस दिन और ज्यादा लग जाएंगे जब तक फिर आपसे जो कुछ मुंसलिक हो जाएंगे तो ये बहुत अहम चीज है और मैंने इतना की थी इस बात से कि अदब इसमें होना चाहिए अदब अदब के बगैर कोई चीज हासिल नहीं होती इमाम शाफी इमाम शाफी रही मोहल्ला कहते हैं वल्लाह मशतरा अशरफ अलमा वल इमाम उनके शागिर्द कह रहे हैं والله ما اجترأت أن أشرب الماء والإمام الشافعي ينظر إلي मुझे ये जरूरत नहीं होती थी कि मैं पानी तक पी लूं जब मेरे उस्ताद इमाम शाफी मेरी तरफ देख रहे हो और पानी पीने की हिम्मत नहीं होती आप तो काल में क्या क्या हिम्मत करते थे उस्ताद मौजूद उस्ताद सामने बैठा कैसी कैसी हरकतें करते हैं इर्द इस तरह नहीं आएगा मेरा भाई इर्द अर्जित नहीं आएगा खुद वही इमाम शाफी याद रखें कि जो हरकत जिस अंदाज से आप अपने के सामने पेश आओगे और आप जिस अदब से रहोगे उसी तरह आपके शागिर्द जब होंगे किसी दिन वो होंगे वो वो उसी तरह रहेंगे आपके सामने खुद ये इमाम शाफी कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के सामने जब वो बैठते थे तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह का दर्श लिखते थे जो भी वो लिखने की जो चीज होती थी वो लिखते थे अब वो पहले जमाने के जो कलम होते थे मोटे कागज उस जमाने का तो उसमें खुरचने की आवाज होती थी जैसे कोई खुरचा जा रहा हो तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं अपने उस्ताद इमाम मालिक के सामने इतनी नरमी से देखता था इतनी नरमी से ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो यदि इसका एहतमाम कि उस्ताद को मेरी जानब से किसी भी तरह की कोई अजियत नहीं पहुंचनी चाहिए जब उन्होंने ये अपने उस्ताद के साथ रखा तो उनके शागिर्द भी कह रहे हैं कि वल्ला ही मच करा तो अनशर बलना मैं तो पानी तक भी नहीं पी सका जब मेरे उस्ताद मेरी तरफ नजर पा रहे हैं ये चीजें जब भी तो आप हमको याद कर रहे हैं इमाम शाफी को कौन हम याद जो कर रहे हैं वो इसलिए तो याद कर रहे हैं ये चीजें उनमें थी अल्लाह करे कि हम में भी ये चीजें पैदा हो जाए दिन ब दिन मैं पढ़ाने की लाइन में तकरीबन तीस साल से लगा हुआ हूं इकतीस बल्कि अब बत्तीसवां साल चल रहा है और इन बत्तीस सालों में जो तनसुली में देख रहा हूं तालब इलमों के अंदर और उनके अदब और एहतराम अपने असातजा के साथ और बड़ों के साथ मुतलकन बस वो ढलान है एक सवाल है इसका सत्य बात जरूरी है मैं आपसे ये कह रहा हूं आप मेरे भाई हैं इमाम शाफी भी आपको खिताब करके अखी फरमा रहे मैं भी आपको अपना भाई समझ कर ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वल्ला आप जो है इलम के मैदान में आप तरक्की जब ही करोगे जब आप मुकम्मल तौर पर ये ठान लें कि हमारे इस ने इनका इंतहाई दर्जे हमारे एहतराम के साथ हम पेश आए अदब के साथ पेश आए उनकी बातें हम सुने उनकी बातें हम माने चाहे हमारे समझ में आए ना आए चाहे हमारी बात समझ में आए ना आए ये अस्तुविदा जैसा हो गया कि मुझे ही क्यों कह रहे हैं अरे भाई आपसे तो लगाव है इसलिए तुम्हें तो कह रहे हैं दूसरे को इसलिए नहीं कह रहे कि उससे लगन नहीं है हमें तो ये ताकत करनी चाहिए अब तो सवाल उल्टा ये करते हैं कि मैं मैंने कौन सी बुराई थी मैंने कौन सा यह किया मुझे ही कह रहे हैं अरे आपसे जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि आपसे कुछ लगन हो और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हम हक पर हैं हम सच पर हैं और उस्ताद जो बात कह रहे हैं वो इसके बरक्स हैं तभी तो हमारे दिमाग में ये बात आ भी जाएंगे शैतान के वजह से ही अगर ये आ भी गया तो हम ये जान लें और ये मानते हुए ये हमारे दिल को ये तस्दीक कराएं कि मेरी बात अगर सही भी निकली और उस्ताद की बात गलत भी निकली उनकी ये गलत बात मेरी सच बात से जो है वो ज्यादा बेहतर है जब तक ये हम ये ये अकीदा ना रखें अपने इला के साथ और इसके साथ काजी काजी इस्लाम रहमतुल्लाह ने कहा बहुत साल पहले हम तालमेल में जब तशीफ लाए थे तो एक बयान में उन्होंने एक बात इर्शाद फरमाई थी वो भी मैं आपसे उसको बता देता हूँ उन्होंने ये इर्शाद फरमाया कि जिस फन में जिस उस्ताद के पास आप पढ़ने जाते हैं आप इस यकीन के साथ उसके पास जाइए कि इस लाइन में और इस फंड में इस उस्ताद से बढ़कर दुनिया में कोई उस्ताद गलत नहीं हो सकता उससे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं हो सकता है जब तक ये अकीदा तुम ना रखोगे उससे तुम कुछ हसूल नहीं कर पाओगे उससे कुछ हासिल नहीं होगा इसलिए असाधना अपने हैं आप जो है उनको गुरु कहते हैं ना गुरु जैसे हिंदी का लफ्ज है गुरु की बात तो इनके पास है इसे उनको गुरु कहते हैं गुरु की बात निचोड़ दस किताबें आप पढ़ लेंगे उस्ताद से आप एक बात सुन लेंगे ना तो वो ज्यादा नाफिर होगी आपके लिए क्योंकि वो तो हर चीज पर नजर रखकर एक खुलासे की बात आपको गुरु सुना देते हैं वो ऐसे ऐसा काम देगी ऐसा काम देगी कि आप हमेशा याद रखेंगे कि ये बात हमारे उस्ताद ने हमें बताई हमेशा के लिए हमें काम आ गई बस ये बातें हैं अल्लाह ताला तौफीक हमें अता फरमाए और भाई ये मोबाइल से आप इजतनाब रखें जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि आपके दिमाग को बिल्कुल जो है माउफ करके रख देगा निकम्मा कर देगा ये जो है ना बिल्कुल निकम्मा हो जाता है उसकी वजह से पहले जमाने में तो लोग हिसाब करते थे कैलकुलेटर के जमाने से पहले कितने तेज दिमाग थे उनको कुछ भी कहो ना तो फटाफट वो साफ करके आप बता देते हम तो अभी कैलकुलेटर ऐसा कर रहे हैं और वो जवाब मिल जाते ये कितना तेज दिमाग कैसा था इन चीजों पर उन्होंने अब तो ये है कि कोई भी मसला मालूम करना है तो शेफ गूगल को हम पूछते हैं बजाय ये कि हम किसी अहले इलम से और किसी जो है आलिम हकीम से किसी उसके से जो है हम जो है रुजू करें उसी को हम पूछ रहे हैं अब वो कायल कौन है वो फाइल का तो हमें पता नहीं कि इसने ये किसने ये बात लिखी है ये बात सही भी है या नहीं है दीन के इलम में जब तक के दाखिल का हमें यकीन ना हो वो बात काबिल अतमाद नहीं हो सकती मैं तो तजवीज़ की लाइन पढ़ाता हूँ इसलिए तजवीज़ की लाइन की मिसाल मैं देता हूँ जो जजरिया पढ़ते हैं जजरिया पहला शेर क्या है उसका बताइए कौन है जल्दी पढ़ने वाले आप उठाओ तो ना कोई भी नहीं पढ़ रहे अलमुकदमतुल जल्दी कोई पढ़ता नहीं यहाँ कोई होती होती है तो यहाँ तो एक ही नहीं अच्छा अभी शुरू नहीं हुई अभी थोड़ा सा तो बयान चल रही चलिए बच गए आप पहला ही शेर उसका यह है इमाम जजी रसोल्ला फरमाते हैं यकोल राज आफिर मोहम्मद जजरी शाफिरी अब उसको इश्काल है उसका जवाब है कि भाई मुसनफी तो यह करते हैं कि बचपना से अपनी किताब का आगाज करते हैं और उसके बाद सबसे पहली बात जो होती है हमदला होती है तो ये क्या शुरू करते हैं इमाम जलते में उसके बाद फिर आता है अलहमदुल्ला अला नबी मुस्तफ़ा हो ये दूसरे शहर में आ रहा है पहले शहर में तो फरमा रहे यकूल राजी अफर सामयी वो कौन है जो अपने रब रब करीम के जो है अफो का और दरगुजर का मोहताज है वो कौन है तो अपना तारुफ कराते हैं मोहम्मद के जजरी शाफियत यहाँ इश्काल होता है कि ये हम तो पहले लाना चाहिए फिर ये सब बात होनी चाहिए तो वही जवाब ये दिया गया कि ये तकदीम जो हुई है इसकी और ये जो बात इमाम जल्दी लाए ताकि पढ़ने वाले को नाकिल का इलम हो कि ये जो आगे बात कहने वाला है ये कौन कह रहा है क्योंकि में शरिया में जब तक दाखिल का करेगा न हो उसकी मनफूलात पर एतमाद नहीं किया जा सकता है अरे समझ में बात आई इसलिए मैं क्या कर रहा था उससे पहले हाँ दाखिल का जब तक इलम ना हो मनफूलात पर उसका जो है उसके कोई एतबार नहीं किया जा इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जो है इलम के हसूल में मेहनत करें अपने साथ के साथ बैठें और हर वक्त ये आप जो है कोशा रहें कि हम जो है कितना और कितना किस हद तक उस्ताद जब तक हमसे न कहें कि अब तुम चले जाओ बस वहीं पड़े उनकी चौखट के भिकारी बहुत हैं अपने उस्ताद के चौखट के भिकारी जब तक अपने आप को तस्लीम न कर लो और उस अंदाज से उसके पास न बैठना शुरू करो तो हासिल होने वाला नहीं देखो मैं आपको डराने के लिए नहीं आया मैं तो आपको तरजीब देने के लिए ये तरजीबी बातें हैं लेकिन ये है ऐसी कि अगर आप जो है उस पर आमिल होंगे तो आप उसके मना में जो है बाद में आप जो है ऐसे आप देखेंगे कि आप फिर कल किसी दिन जो है कहेंगे वो कह गया था ऐसा करो तो हमने वो किया और उसके नतज हमने देखे उसका फल हमने तोड़ा तो अल्लाह करिए मोबाइल से जो है आप एक सिर्फ गूगल जो है ये नाखिल नहीं है उस पर ऐसे बात बात यहां से चली थी कि कौन नाखिल है इस इलम का कौन कह रहा है अक्सर तो वहां लिखा होता नहीं कि इसका कायल कौन है और फिर हम उस पर एतमाद करके चलते हैं इलम के हसूल का तरीका यह नहीं है ठीक है अब तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को जो है मजू के मजमू करके जो है उसमें देख दिया लेकिन औरात पर जो लिखा हुआ है उसका बदल कोई नहीं हो सकता है मैं आप अपने तालमेल से कहता हूं कि मैंने इस्तेमाल तो किया है लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया उसमें वजह उसकी है कि हम किसी मसले की तलाश में हों अगर उस मसले की तलाश में आप जो है उस पर क्लिक करेंगे उस वो मसला सवाल वहां डालकर तो वो सीधा डायरेक्ट उस सवाल के जवाब पर आपको ले जाएगा लेकिन यह बड़ा फीका सफर होता है यहां इस क्लिप से लेकर वहां तक बड़ा फीका सफर है क्यों मनाजिर बीच में कोई नहीं आया बल्कि आप सीधे जो है सलाकसर जो है अंधेरी डाल के जो सीधे वहां पहुंच गए किताब जब आप उठाएंगे किसी मसले की तलाश में तो आप गौरव गंदा नहीं करेंगे तो एकदम से कोई मसला सामने आया आपने कहा हो इसकी तो मैंने पहले तलाश की तो ये तो यहां मिल गया चलो फिर आगे चले आप चंद वर्ग के बाद आपने एक सुर्खी देखी अच्छा ये तो एक बात आपने वहां उस मसले तक पहुंचने से पहले आपने जो है दस बातें और सीख ली बीच में ये आपको जो है ये इस पर नहीं मिलेगा इसलिए ये विदा खत्म करो किताब में वर्क गर्दानी जो है ना इसका फायदा अलग ही है और ये शहर जब आप सफर में निकलेंगे शहर के लिए तफरी के लिए तो आप क्या चाहते हैं कि ताज़े से ताज़े अच्छे मनाजिर मुझे नजर आए ऐसे रास्ते से समझना ऐसे रास्ते में से मैं मैं सफर करूं मुख्तसर रास्ता भी है लेकिन ये जरा लंबा है लेकिन इसमें बड़े अच्छे मनाते रहते तो आदमी उस रास्ते से जाएगा ये मुख्तसर है लेकिन इसमें फायदा आपको मुख्तसर है और ये लंबा रास्ता है उससे उसके फवायद बहुत ज्यादा है अल्लाह तला हमें जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश अदा फरमाए और मैं कहता था मैं, मैं मैंने ये बात कही और मैं इसको थोड़ी शराब कर लू कि मुस्तकिल तौर पर मोबाइल पर ये जो खेल गेम्स जिसको कहते हैं खेल जो मुरतब किए जा रहे हैं इस पर जो है एक मोबाइल वालों के पीछे एक मुस्तकिल थिंक टैंक कहते हैं उसको थिंक टैंक का मतलब ये है कि एक, एक मुतफक्र और मुफक्रीन की जमात है जो इस पर लगाई गई है कि आदमी के दिमाग को कैच करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए कि दिमाग किस तरफ पकड़ा जाए वो उसको इस तरह मुरतब करती है खेलों को और फिर नीचे जो है एडवर्टाइज लगा देते हैं इन खेलों में अक्सर होगा कि वो खाली नहीं होता उसमें एडवर्टाइज भी आती रहती है बीच में जो ऑनलाइन गेम्स उसमें यह होता है कि आपका दिमाग को पकड़ के यहां ले आए और नीचे वो एडवर्टाइज डाल दी आप चाहे उसको न पढ़े आप चाहे उसको न पढ़ते हुए हो लेकिन वो जो नीचे से वैसा गुजर गया ना तो आपके दिमाग में आ गया आपके इलम के बगैर और इसकी तहकीक हुई है साइंस के एतबार से सिनेमा में जो लोग जाते हैं हमें तो मालूम नहीं सिनेमा में जो लोग जाते हैं तो स्क्रीन पर कुछ चीजें बोले आते हैं और उसके दरमियान में उसके दरमियान में एक सेकंड का एक पहल के बराबर हिस्सा वो एक खाने की कोई चीज जो वहां से ऐसी गुजार लेते हैं कि आदमी की निगाहें उसको पकड़ नहीं पाई लेकिन इसके बावजूद उस दिन उन्होंने देखा ये पॉपकॉर्न होता है झाड़ी धाणी जिसको कहते हैं मक्के की धाणी जो होती है ना उसका पिक्चर उन्होंने उसमें एक मिली सेकेंड के लिए एक मामूली सा वक्त के लिए जिसके इंसान की आंख ने उसको पकड़ा दी वहां से उस दिन उस सिनेमा में उस मक्के की धानी की जो है बिक्री बढ़ गई इतनी बिक्री हुई उसकी इतना बेचा उन्होंने सिर्फ इतना तो सच इस पर तकनीक यह है कि ये कितना भी जो गुजर है आंख ने उसको शायद न देखा और दिमाग में देखे इंसानी दिमाग इतना तेज होता है कि उसने उसको देख लिया हालांकि उसको याद तक नहीं है कि मैंने उस चीज को देखा है वो जो है इन चीजों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें फिट कर देते हैं कि आपके दिमाग को वो मुतासर कर देती है तो बड़ी नामा स्कीम चल रही है और वो ऐसी गलत शलत बातें उसमें ऐसी फिट कर देते हैं यहां तक कि बहुत साल पहले एक तहकीक मैंने पढ़ी थी और मैंने खुद उसको रिसर्च भी किया कि ये जो गाने होते हैं इंग्लिश के तो जो वहां इंग्लिश का माहौल तो इंग्लिश के जो गाने हैं उन्होंने काम किया उस पर वो पहले जमाने में तो कैसेट होती थी उस कैसेट को उन्होंने उल्टा चलाया उल्टा सीधा चलो तो गाना आप सुन रहे हैं लेकिन उसको उल्टा चलाया उन्होंने उल्टा चलो उल्टी आवाज उसमें से निकल रही है उल्टी आवाज जो थी उसमें भी अल्फाज समझ में आ रहे थे आप बताए गाना इधर से बजाओ गाना उधर से आपको एक मैसेज दिया जा रहा है शैतनत को फैलाने के ये, ये रास्ते हैं वो मैंने खुद उसको उल्टा सुना जब मुझे यकीन हुआ मैंने पढ़ा तो था फिर एक शख्स से मुझे उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी मिली कि वो उल्टी करके उसने रिकॉर्डिंग मुझे उसकी मैंने सुना मैंने मैं हैरत कर गया कि क्या क्या जो है कितना उत्साह फैलाने कैसे कैसे रास्ते इख्तियार किए जा हैं तो इन दानों के अंदर और हर जाने में ये चीज होती है और मोबाइल के अंदर यह सिलसिला आपकी निगाह के सामने एक चीज है आप देख रहे हैं उसको आपको मालूम नहीं कि यहां एक मिनी सेकेंड के लिए और मामूली वक्त के लिए एक चीज आपके सामने नजरों के सामने से गुजर गई आपने दिमाग में उसको रजिस्टर भी नहीं किया लेकिन वो चीज आप पर असर कर गई आप जितना भी इसका इस्तेमाल कम रखेंगे और तालिब इल्म के दौर में तो आप बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि आपके लिए हराम है शराब नहीं वरना आप कहेंगे वो व्हाट्सएप आए थे वो कह रहे थे कि भाई मोबाइल का इस्तेमाल हराम है मैंने तब कहा आपके लिए हराम है आपने आपको ये कहा आप समझाएं कि मेरे लिए ये चीज हराम है जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगी आप उसको तलाक दे दीजिए मुगलजा दीजिए वैसी नहीं एक तलाक के मैं रुजू कर लूंगा एक हफ्ते के बाद ना तलाक मुबलजा देंगे बिल्कुल कट अगर फोन ही करना है तो वो सादा फोन रखिए आपके मदद से की मैं नहीं कह रहा हूं भाई इनकी इजाजत के साथ ही आप काम करें जो काम करना है वो भी ना रखें तो अच्छा है अरे वो तो जमाना कैसा गुजरा था अकाबिर का खतूत का जमाना था खत फोन का जमाना था ही नहीं पता नहीं तो आपने तो पर मरतबा ये सुना होगा कि मटके में वो डालते चले गए पढ़ा तक नहीं उसको कि क्यों कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे दिलो दिमाग पे उसका असर पड़ेगा कि भाई फुरान का इंतकाल हो गया फुरान बीमार है फुरान कोई हो मेरे में इलम से जो है ये खलत अंदाज होगा वो अपने घर के खतूत नहीं पढ़ते उसमें कोई फिक्रे की बात तो थी भी नहीं लेकिन वो इलम के हसूल में खलत अंदाज बन रहा था तो इसलिए उन्होंने जो है ये रास्ता इख्तियार किया अपने लिए कि अपने ऊपर हराम करने के मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्या हम ये नहीं कर सकते हैं हमें जब मालूम है कि ये तो हिरत में हमारा हमारे लिए खलल अंदाज बन रहा है इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कि हम जो है उसको कहें कि नहीं ये चीज हमें नहीं इख्तियार करनी है इससे जो है हम मुकम्मल इज्तनाब करेंगे परहेज करेंगे ताकि मंजिल मकसूद तक हम पहुंच जाए हमारा मंजिल मकसूद हसूल हिरत है जो चीज रोड़ा जा रही है बीच में जो रुकावट बन रही है बीच में उसको हम तलाक कर नहीं देंगे और वो अपनी जिंदगी से उसको नहीं निकालेंगे तो फिर हम आखिरकार हमें हसरत ही रहेगी हम रोएंगे फिर कि हसूल इलम के जमाने में काश के हमने ऐसा किया होता और ऐसा किया होता अक्सर ये देखा गया बाद में रोते हैं तो बाद में रोने से कोई मतलब नहीं अल्लाह ताला हमें तोफी बता सकें मोबाइल का सिलसिला जो है इसको बंद करें फिर आते हैं बरकत आपके इल्म में आएगी और आपका दिमाग भी अल्लाह ताला महफूज रखेगा वरना ऐसी ऐसी चीज़ें इसके जरिए से हमारे दिमागों में जो है फिक्स की जा रही है कि हम निकम में हो बनते चले जा रहे हैं अल्लाह हमें तोफी अदा फरमाए और अल्लाह ताला आपके इल्म के मैदान में जो आपने कदम उठाया है अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए आपको इन में तरक्यात अदा फरमाए और अल्लाह ताला जो है आपको अपने हमारे वक्त का फजाली व राजी बनाए ये मुमकिन है ऐसा नहीं नहीं बन सकते हैं लेकिन उसके रा, उसके रास्ते इख्तियार करने पड़े राजी गजाली अब भी बन सकते हैं लेकिन जिस अंदाज से हम लोग चल रहे हैं उस अंदाज से तो नहीं बन पाएंगे रास्ता हम बदलें कोई दूसरा रास्ता हम इख्तियार करें और अपने साथियों के मशवरे से और उनकी रहनुमाई से आप जो मुकलर दे रहे उसके रास्ते पर चलिए मंसल अगर करीब मंजिल सभी सूफी न सिर्फ दुनिया में बल्कि शरीफा जन्ना अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता भी आसान फरमा देंगे अल्लाह हमें की फसलों को भी खिताब फरमाए वाबुलवानी وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طالب علم को मैं जानता हूं खाने का वक्त हो गया है www.attableek.com the reviver of